भला उस वक्त उनका क्या हाल होगा जब हम उन्हें एक ऐसे दिन का सामना करने के लिए जमा कर लाएंगे जिसके आने में जरा भी शक नहीं है और हर हर शख्स ने जो कुछ कमाई की होगी वो उसको पूरी पूरी दे दी जाएगी और किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा